अगर ये कोई बचाव की जगह या कोई गार या कोई भी सर घिसाने की जगह पालें तो अभी उस तरफ लगाम तोड़कर उल्टे भाग छूटें